थम्बलीना एक दफा का जिक्र है एक औरत थी जो अकेली रहती थी वो जब से छोटी थी उसकी तमन्ना थी कि उसकी बेटी हो एक उजली सुबह को वो पौधों को पानी दे रही थी और ये सोच रही थी कि आज अगर उसकी छोटी सी बेटी होती तो वो उसके साथ खेलती और साथ ही एक परी माँ उसके सामने जाहिर हुई क्या हुआ मेरे बच्चे तुम क्यों रो रही हो मेरा दिल है कि मेरी एक छोटी सी लड़की हो क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ मिल सकती है मैं बहुत बेबस हूँ ओह फिक्र मत करो ये काम हो सकता है परी माँ ने अपनी जादुई ताकतों से उसके सामने एक बीज रखा मेरी बच्ची देखो ये फार्म्स पे उगने वाला बीज नहीं है इस बीज को प्यार की बहुत गर्माश चाहिए इसको एक गमले में रखो और देखो फिर क्या होता है और इसे सूरज की रोशनी देना ना भूलना शुक्रिया परिमा आप बहुत सखी हैं उसने वो बीज एक गमले में बोया उसने वो गमला खिड़की के सामने सूरज की रोशनी के लिए रखा वो जल्द ही उगते हुए एक अच्छा खासा फूल बन गया जो गुले लाला की तरह दिखता था उस औरत ने बहुत प्यार से उसकी देखभाल की और रोज उसे पानी देती थी एक दिन उसने बहुत आराम से उसकी आधी बंद पत्तियों को चूमा और जैसे कोई जादू होता है फूल अपनी पूरी जोबन पर खिल उठा अंदर एक बहुत ही नाजुक और बाबाकार छोटी सी कवारी लड़की थी ये मेरी बेटी है मैं इसे थम्बलीना बुलाऊंगी ये मेरे अंगूठे से ज्यादा बड़ी नहीं मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी और तुम्हारा नाम थम्बलीना है फूल ने उसे वो बेटी दे दी जैसी उसने ख्वाब में देखी थी एक अखरोट का खोल था जो उसका झूला था बनफ्शा की पतियां उसका बिस्तर थी और वो गुलाब की पत्तियों का कंबल उड़ती थी दिन के वक्त वो एक तश्तरी में पानी पर बनफ्शा की पत्ती पर तैरती रहती और सफेद घोड़े के बालों से बने दो चप्पुओं से खुद को चलाती वो वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा था एक रात वो अखरोट के खोल में बहुत गहरी नींद सो रही थी एक बड़ा सा मेंढक एक सुराख में से बाहर निकलकर खिड़की पर आ बैठा हाय कितनी प्यारी है ये मेरे बेटे के लिए बेहतरीन दुल्हन बनेगी और उसने वो अखरोट का खोल उठाया जिसमें वो नन्ही थी और थम्बलिना को एक कवल के पत्ते में तालाब के बीच में छोड़ दिया हमने इसे शोषण के पत्ते पर रख दिया है अब वो कभी हमसे फरार नहीं हो सकेगी हरे पत्ते पर बैठी हुई अकेली थम्बलीना रोने लगी वो नहीं चाहती थी कि मेंढक का भयानक बेटा उसका शौहर बने मैं किसी भी तरह तुमसे शादी नहीं कर सकती तुम मुझसे ये नहीं कह सकती दूसरी तरफ माँ ने थम्बलिना को घर के हर कोने में तलाश करने की कोशिश की मगर वो उसे नहीं मिल सकी मछलियों का एक झुंड था जो उसके नीचे पानी में तैरता था उन्होंने मेंढक को देखा था और उनकी गुफ्तगु सुनी थी उन्हें बहुत अफसोस हुआ इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया इस दौरान मेंढक और उसका बेटा शादी की तैयारियों में मसरूफ थे मछलियां हरी टहनी के इर्द गिर्द कट्ठी हो गईं और उसे अपने दांतों से कुतर डाला पत्ता टहनी से जुदा हो गया और थम्बलीना तैरने लगी बहुत शुक्रिया आप सब लोग बहुत मेहरबान हैं थम्बलीना चली गई बहुत दूर जहां मेंढक उसे ढूंढ नहीं सकते थे थम्बलीना बहुत सी जगहों से गुजरी जहां नन्हे परिंदों ने उसे देखकर कहा कितनी प्यारी लड़की है जब अंधेरा बढ़ने लगा तो उसने खुद को पत्ते से लपेटा और सो गई मगर अगली सुबह वो ऐसी जगह जागी जहां सूरज की किरणों से पानी सोने की तरह चमक रहा था वो नदी के आखिर की तरफ बढ़ रही थी और तब एक बड़ा सा कीड़ा उसके पास से उड़ा क्या खूबसूरत लड़की है मुझे इसे बचाना चाहिए उसने फौरी तौर पर उसे अपनी गिरफ्त में लिया और उसे बहुत दूर एक जगह ले गया आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं मिस्टर बाग मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ कुछ देर बाद जब वो कीड़े के घर पहुंचे बाकी सब कीड़े जो दरख्त में रहते थे देखने आ गए कि कौन आया दोस्तों इस प्यारी लड़की को देखो मैं इससे शादी करूंगा इसकी तो सिर्फ दो टांगे हैं क्या बुरा नजारा है यक इसको तो देखो इसके तो सिर्फ दो ही हाथ हैं कितनी शर्मनाक ये तो इंसान जैसी दिखाई देती है कितनी बदसूरत है ये कीड़े ने उनके साथ इतफाक किया और गुस्से में उसे जंगल की गहराई में छोड़ाया सर्दियां आ गईं, बर्फ गिरने लगी और बेचारी लड़की सर्दी से ठठरने लगी उसके लिए ये बहुत खौफनाक सर्दी थी वो चलती गई चलती गई खाने और सहारे की तलाश में जो ही वो एक छोटे से घर के पास से गुजरी वो घर के दरवाजे की तरफ गई और खटखटाया बाहर एक चूहिया आई जो घर के अंदर रहती थी तुम कौन हो प्यारी सी छोटी सी चीज आ मैं जंगल में गुम हो गई हूँ मुझे बहुत सर्दी लग रही है मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तुम मेरे घर में आकर खाना खा सकती हो तुम्हें यहाँ गर्माइश भी महसूस होगी मगर इससे पहले मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ मैं थम्बलीना हूँ थम्बलीना अंदर चली गई। ये कॉटेज बहुत गर्म और आरामदेह था उसमें अनाज से भरा हुआ गोदाम भी था और एक बावर्ची खाना जिसमे कमरा था शुक्रिया अपना खाना और गर्म जगह देने के लिए तुम मेरे साथ पूरी सर्दियाँ रह सकती हो मिसेस माउस आप बहुत मेहरबान हैं। चुईया थम्बेलिना की खूबसूरती से इतनी हैरान थी कि वो चाहती थी कि वो उसके साथ हमेशा रहे ये हफ्ता खत्म होने वाला है आज कोई मिलने के लिए जरूर आएगा हफ्ते में एक दफा मेरा हमसाया मुझसे मिलने आता है जल्द ही घंटी बजी और वहाँ एक छचुंदर खड़ा था वो मखमल का काला कोट पहनकर उनसे मिलने आया था शचुंदर ने उसकी आवाज सुनी और उसे उसकी मीठी आवाज से मोहब्बत हो गई उसने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया तो वो चुहिया के पास जाकर कहने लगा मैं तुम्हें अपना सारा खाना और घर दे दूंगा अगर तुम मेरी इस प्यारी लड़की से शादी करवा दो मिसेस चुहिया रईस चचुंदर को ना नहीं कह सकी ठीक है मैं तैयारियां शुरू करता हूँ जी थम्बिलीना उससे शादी नहीं करना चाहती थी सो अगली सुबह उसने भाग जाने का फैसला किया जंगल में फिरते हुए एक जख्मी चिड़िया के पास जा पहुंची बेचारा परिंदा यकीनन सटी से मर गया होगा जब वो उसके और पास गई तो उसने देखा कि चिड़िया जिंदा है वो सिर्फ जख्मी थी क्या तुम ठीक हो प्यारी चिड़िया ओ नहीं इसका तो खून बह रहा है कमलीना ने उस नन्हे परिंदे की मदद करने का फैसला किया और कुछ मरहम पट्टी का सामान चिड़िया के लिए ले आई फिक्र मत करो मिसेस चिड़िया अब तुम ठीक हो जाओगी उसकी मरम पट्टी के साथ ही नन्ही चिड़िया उड़ने लगी अलविदा प्यारे छोटे परिंदे शुक्रिया प्यारी छोटी बच्ची मैं ये कभी नहीं भूलूंगी मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ जल्द ही उसने देखा कि चुया और चचुंदर उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं ओ थम्बलीना तुम कहाँ हो थम्बलीना ने जो ही उनकी आवाज सुनी उसने चिड़िया को बताया मिसेस माउस मेरी शादी मिस्टर छचुंदर से कराना चाहती है मेहरबानी करके क्या आप मुझे इन सब से दूर ले जा सकती हैं? मैं मिस्टर छचुंदर से शादी नहीं करना चाहती मेरे पास एक मंसूबा है आओ मेरे ऊपर सवार हो जाओ अलविदा मिसेस माउस उस सब के लिए बहुत शुक्रिया मुझे आपसे प्यार है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी छचुंदर और चिड़िया थम्बलीना को उड़ते हुए जाता देखकर चौंक से गए चिड़िया उसे फूलों के देश में ले गई जहाँ हर तरह के फूल थे और छोटे परिंदे थे जो गाते थे ये तो बहुत हसीन है क्या है ये इसे फूलों का देश कहते हैं और अब मेरे जाने का वक्त हो गया शुक्रिया मिसेस चिड़िया आप सबसे अच्छी हैं। थम्बेलिना बहुत खुश थी ये मेरा घर है फूल कैसे महक रहे हैं परिंदे कितना मीठा गा रहे हैं उसे जल्द ही अपने असल घर की याद आने लगी कि उसकी माँ ने उसको कितने प्यार के साथ पाला वो बहुत उदास हुई और अब घर जाना चाहती थी मगर अचानक वहां फूलों के देश का बादशाह जाहिर हुआ उसने थम्बलीना को देखा और उसको उससे प्यार हो गया मैं फूलों के देश का बादशाह हूँ और तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी बीवी बनोगी मैं तुम्हें फूलों के देश की मलका बनाऊंगा थम्बेलिना ने एक पल के लिए सोचा कि यहाँ अब एक मुख्तलिफ तरह का शोहर था जो मेंढक के बच्चे कीड़े और मखमल के काले कोट वाले छचुंदर से जुदा था हाँ अगर तुम मुझे मेरी माँ के पास वापस ले जाओ तो फिर हम तीन वहाँ खुश रहेंगे वो मान गया और थम्बलीना के लिए एक तोहफा ले आया उनमें से बेहतरीन तोहफा एक बड़ी चांदी मक्खी के परों का जोड़ा था जब उन्हें उसके पीछे बांधा गया तो वो भी फूलों पर उड़ सकती थी उनकी जल्द ही शादी हो गई शादी के बाद बादशाह और थम्बलीना उड़ गए और माँ का घर ढूंढ लिया माँ उन्हें देखकर बहुत खुश हुई ओ थम्बलीना तुम नहीं जानती मैं तुम्हें वापस पाकर कितना खुश हूँ अब मैं तुम्हें खुद से कभी जुदा नहीं होने दूंगी माँ मैं आपसे कभी जुदा नहीं होंगी माँ ने उन दोनों का इस्तकबाल किया और फिर वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे